No. ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ हैं और आपसे बात करने का हमें ये मौका मिला है दिलीप साहब सबसे पहले मैं जो आपसे बात जानना चाहूँगा वो ये है कि आपने बहुत मुद्दत पहले एक ऐसा किरदार अदा किया था जिसने इस देश की पूरी एक पीढ़ी को बदल दिया वो किरदार था देवदास का बहुत साल हो गए यकीनन साल तो हो गए वक्त को कोई ठहरा तो सकता नहीं है और देवदास फिल्म थी जो शरद चंद्र चैटर्जी की कहानी थी और फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है डिपेंड करता है जितनी के क्लासिकी कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वज़न का वो फिल्म भी बना और ऐसे मैारी लिटरेचर जब भी होता है जैसे मुग़ल आज़म है जोगन है एक हद तक कहें आप गंगा जमुना है वो अपनी नौीयत की मुख्तलफ़ फ़िल्में हैं और कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है हमारे दोस्तों का एक हल्का है वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते कई लोग हैं कहते हैं कि का हम दिन भर के काम के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम तो बाहर के फिल्म जो है मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है आप पिछले पचास साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं इस बीच तकरीबन आपकी उनचास फिल्में ही रिलीज़ हुई हैं यानी साल में एक या कभी कभी दो साल में एक ऐसा क्यों मिर्ज़ा गालिब अपने खतूत में लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है if you have the same artist for breakfast in the same artist for lunch in the same artist for dinner I mean if that is the frequency कि हर साल उनके छः सात आठ फिल्म हैं हर फिल्म में वो ऐसा प्रिडिक्टेबल काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है और इस झलक में उस फिल्म सो दैट एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं एक पर्सनैलिटी बन जाती है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे और उसमें कुछ न कुछ किसी हद तक आप एक किरदार की तलाश करेंगे माजरत चाहता हूँ मैं अपनी फिल्म का ये मिसाल देते हुए क्योंकि I don't like doing it लेकिन जैसे कोहनूर एक फिल्म है या देवदास है तो दोनों अलग अलग फिल्में हैं अब मुग़ल आज़म जो था वो एक किरदार ही अलग था उसकी केमिस्ट्री अलग है मोर फॉर्मल फॉर्मेट वैसे गंगा जमुना को देखिए तो वो गंवार है उसकी पर्सनैलिटी अलग है so you got to divorce अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी को हटा के एक नई पर्सनैलिटी को लाना फिर उसके साथ काम करना ज़्यादा दिक्कत तलब है उसमें मुश्किल होती है ज़रूर लेकिन वो एक रीज़न होता है लॉन्जिविटी का कि आप शायद कुछ हद तक लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें अलग ढंग की आ, फिल्म या किरदार पेश करते हैं और फिर वो चाहे किरदार कैसा ही हो हर किरदार मेहनत मांगता है अगर गंवार है तो गंवार की क्या ढंग रंग ढंग हैं सिर्फ गंवार ही तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता गंवार में भी कोई लिटरेरी उसमें मोड़ हो कोई गहराई हो या कोई सिचुएशंस हो तो लिटरेचर से बड़ा नहीं है आर्टिस्ट आर्टिस्ट के अच्छा काम लिट, अच्छे लिटरेचर से पैदा होता अच्छा एक बड़ा ही ज़ाती किस्म का सवाल जो कि हम और आप सद्भावना की बात कर रहे हैं आम आदमी जो इस देश का है इस मुल्क का जो आदमी जी उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है क्योंकि जो एक कला का बहुत बड़ा मंदिर है कला की बहुत बड़ी मस्जिद है कला की बहुत बड़ी चर्च है कला का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है दिलीप कुमार अगर <laughs> इसका अगर मैं संजय मालनी कितनी अच्छी खूबसूरत बात <laughs> कर रहे हैं अगर कोई के दिलीप कुमार पे तोड़ा मिश्रे को आपने अगर हम्म। दिलीप कुमार का धर्म वो न होता जो है हम्म। या कोई दूसरा धर्म होता हम्म। तो क्या आप ये मानते हैं या सोचते हैं कि दिलीप कुमार को उसके ऑडियंस से आवाम से जो प्यार मिला है उसमें कोई फर्क होता नहीं हरगिज नहीं बल्कि वो सबसे मेरा सबसे बड़ा कैपिटल वही है मेरे ख्याल से आम आम लोगों को मालूम है कि मैंने आप ही तो कह चालीस पचास पचपन जितने भी होंगे मैंने उतने ही पिक्चर किए हैं तो उतने पिक्चरों में उतनी ही तो आमदनी हुई होगी रुपया मेरा नस्बुलाइन था ही नहीं वो मेरा सबसे बड़ा कैपिटल है भाई लोगों से ये जो प्यार मिलता है मुझे ये मैं मैं कर्जदार हो जाता हूँ ना तो वो कर्ज़ा किसी न किसी तरह अदा करना चाहिए शायद ऐसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकता हूँ कि कम से कम उस प्यार और उस सद्भावना का जिक्र करूँ जो प्यार और जो श्रद्धा मुझे लोगों से इतनी फिरावा मिलती है कि मैं अंदर से हिल जाता हूँ और मेरा ध्यान ऊपर वाले की तरफ चला जाता है जिसने मुझे बनाया भेजा और इतनी फजीलत बख्शी मैंने जो आपको आपसे कहा है जितना भी कहा है वो अपने दिली एहसास की बिना पे कहा है क्योंकि मैं अपने हृदय के अंदर वो बात महसूस करता हूँ इसलिए कहा है मुझे किसी ने तलकीन नहीं की मैं जयपुर आया वही कहने के लिए और जहाँ भी जाना होगा जाऊँगा यही कहने के लिए इसमें कोई सियासत नहीं थी एक बड़ा अंदरूनी खलूस की बात थी जो मैंने आपको कही और आपके ज़रिए आपके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वाकई शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना वक्त दिया और हम उम्मीद करेंगे बहुत लंबे अरसे तक कि आपकी बड़ी खूबसूरत फिल्में आपकी अदाकारी और आपकी समाज सेवा देखने का मौका हमें और हमारे आवाम को हमारे दर्शकों को मिलता है बार बार मिले थैंक <laughs> यू अच्छा